इस प्रकार ओ मित्र देख रही आई अहे जंतु को कहे गिर भाई ये पहाड़ है नाथ नाथ करुणा निधि देवा काल मनु ये करही कलेवा सखा जंतु से लगे के नाही रहे पसारी बदन तो चाही बाल सहित हमें के न खाई बाय रहे मुख सरिस लखाई निश्चय रवि कर अरुण समूहा घन सो परस लगत धर दूहा ते प्रतिछाया स्थिर सब ठानी लगत ओद सम सुंदर भानु सव्या सव्य नवोदर माही श्रीकन दो सरिस सम छाही तुंग श्रृंग राजी इन राजत द्विज शोभा सम सुंदर भ्राजत पथ यह सुभग देखिए कैसो रसना सरिस लखत लघु लखु जैसो श्रृंग मध्य तम अतिशय भारी जन मुख मध्य अहे अंधियारी बाद उष्ण खरबात यह भाषित श्वास समान सखा लखु यह सर्प से जानी जात प्रमाण तो सत्य दावा में कोई सास दुष्ट गंध यह जो इस प्रकार से अजगर के सारे शरीर को पूरा पूरा देखकर जानकर समझकर भी उन्होंने उसको बन शोभा समझा यू कहते कहते आगे बढ़ने लगे जब और भी समीप जहां पूछे तो अचानक एक बालक ने कहा रे भैया हो देखो तो सही अगर कोई अजगर ही हुआ तो अजगर सा दिख रहा है है तो अजगर नहीं है तो ये वृंदावन की शोभा ही पर यदि अजगर हुआ और यदि हमें हम सब इसके मुंह में चले गए तो ये तो फिर हम लोगों को खाई जाएगा पेट में उतार ही लेगा अस्मान किमित कृषिता अनुष्ठान तो एक छोटे से बालक ने बड़े जोर से समाधान कर दिया इस शंका का विश्वास के साथ अरे बोले क्या है तो तुम भूल गए क्या सिंह की क्या बची हुई थी अभी अभी बगुला आया था ये कन्हैया ने चीज डाला तो क्या अर्ज है अयम यदा चेत बकवत बनुष्य की अरे कहीं हमको निकल गया तो जैसे बगुला मारा गया वैसे भी मारा जाएगा कृष्ण तो हमारे साथ है ना कन्हैया तो हमारे साथ है कन्हू भैया के बाद इसी देर में तुम भूल गए अब तो लीडर तो थे ही अब कन्हैया की याद आ गई बोले कन्हैया तो हमारा पीछे पीछे यही बचा ही लेगा तो बड़ा मैं उत्साह तो बोले इसके अंदर चलो देखे अंदर अंदर क्या मजा है तो मैंने पहाड़ की गुफा के अंदर जा देखे अंदर क्या क्या चीज है तो बड़े कौतुक से मनोरंजन की इच्छा हो गई सबकी और बच्चों की इच्छा हुआ करके नई नई चीज देखें बच्चे भय तो करते नहीं बोले चलो अंदर चलो देखें क्या है अंदर चलो देखें क्या है तो सारे शिशु सब बच्चे और ये सोच करके कि पहाड़ की गुफा के अंदर जा करके वहां खेलेंगे तो पहले तो उन्होंने सब बछड़ों को हाँका बड़े ये सांस आएंगे तो खेलेंगे ना और वही जंगल है अंदर के लाभ जंगल मिल जाएगा तो घास चढ़ते रहेंगे कोई बात नहीं तो बच्चों को तो हाँक दिया अब वो जैसे गंगा जी की पवित्र श्वेत धारा इसी प्रकार ये बछड़ों की पंक्ति की पंक्ति दल के दल ये अवरूपी और पर्वत के उदर में प्रविष्ट होने लगे जब ये सब गुजरे तब शिशुओं ने एक बार पीछे की ओर ताका कि खड़ा है कि नहीं दूर तो नहीं चला गया <laughs> तो दीखा खड़ा है धीरे धीरे आ रहा है तो मेरे कोई हल नहीं देख रहा है अब उत्साह आ गया और सब हंस उठे और बोले अब क्यों देर करूं सो ताली बजाने और नाचते हुए ये सब के सब अभासुर के मुंह में घुस गए बकाई सब मुखम वीक्षु हसंत कर यू ताली बजाते हुए और हंसते हुए नाचते हुए ये अघासुर के मुंह में चले गए अब वो अंतर्यामी तो अंतर्यामी देखते ही थे पर बाल लीला में वो अपनी अलग धुन में रहे अब जब ये इसमें प्रविष्ट हो गए सब के सब तो अब वो लीला बिहारी भगवान की इधर नजर गई अरे बच्चे सब कहा गए तो समझ तो गए सब वो सर्वांतर्यामी रूप से सब समझ गए और वहां भी थे ही जो नित्य सत्य सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं वे कहा नहीं कब नहीं किसके अंदर नहीं किस बात को नहीं जाने सब लेकिन अभी तक वो ऐश्वर्य का मुंह ढका हुआ था ये माधुर्य की चद्दर से समावृत था ऐश्वर्य का मुंह अब जरा सा हटा तो अब इनमें न देश का व्यवधान है न काल का व्यवधान है शिशुओं की परीक्षा भी अब इनको सब सुनाई पड़ गई पहले नहीं सुनी थी अब वो जब वो ऐश्वर्य प्रकट हुआ तो भूत भी वर्तमान हो गया भविष्य भी वर्तमान हो गया सारी बातें सुन ली और ये भी जान लिया कि बच्चे सब के सब ये भ्रम में पढ़ कर अजगर के मुंह में गए उन्होंने शोभा माना वृंदावन की तो अब वो ऐश्वर्य आ गया फिर माधुर्य की लीला फिर चली भगवान ने सोचा कि अब क्या करें अब क्या करें ये तो बड़ी आफत हो गई बच्चे समंदर से चले गए अब कैसे निकालें तो जाते दफे उन्होंने जब जब जब घुस रहे थे तो इन्होंने देखा था तो कहा माभिषद माभिषद वो ब्यालोयम ब्यालोयम थी अरे सांस है सांस मत घुसना अंदर पर वो को कौन सुनता तावत तो सोच राम करम घुस गए सब सब उसके अंदर अंदर गए तो अब उनकी पुकार कौन सुनता तो अग अगासुर ने क्या किया कि अभी उन सबको निगल के मुंह बंद नहीं किया उसका तो उद्देश्य दूसरा उसने सोचा कि मैं जिसको मारने के लिए आया वो तो भी बाहर ही है और वो तो अभी देख रहा है और देख भी रहा है सोच रहा है मन उसके आया श्री कृष्ण के मन में आया कि देखो ना ये सब तो मेरे ही आश्रय हैं और वो बच्चे की बात उनके कान में मानो गूंजने लगी कि क्या है अंदर के मुंह में चले जाएंगे तो कन्हैया खड़ा है ना पीछे बकासुर सुरवारी दशा इसकी होगी तो श्याम सुंदर ने सोचा कि ये दीन गोप बारिक ये क्या मेरे द्वारा सुरक्षित नहीं रहेंगे ये क्या मेरे संरक्षण के बाहर जा करके और सांप के पेट की विष की आग से जल जाएंगे चिंता करने लगे कि कैसे इनको बचाएं क्या करें अखिल लोग को भय नाशक जोई लख बालक विस्मय कर सोई दैव प्रबल गति कह यदुनंदा निज दिन सोच कर सुख कंदा फिर वो माधुरी आया अब वो भय हो गया उनको कि कैसे बचेंगे ये चिंता होगी मन में जठरा नल को ग्रास भय बाल बछरा सकल यह विचार चित पास करुणा कर जानो अहित क्या करें कैसे करें अब ये कितना मधुर भाव है जो सत्य संकल्प है जिनके चिन्मय मनोराज्य में किसी संकल्प का उदय होते ही संकल्प पूर्ण हो जाता है सत्य संकल्प है ये भगवान संकल्प विकल्प में पड़े क्या करें कैसे बचाएं बुद्धि अभी तक निश्चय नहीं कर सकी मन का काम है संकल्प विकल्प करना और चित्त का काम है संकल्पित विषय का चिंतन करना और बुद्धि का काम है निश्चय करके तदनुसार संचालन करना तो अब इनके मन में अब संकल्प विकल्प उठ रहे हैं जिनका मन जिनसे अलग नहीं सब स्वरूप ये अब इस लीला माधुरी में कृत्रिम किमत्रा सखलस्थ जीवनम नवानीशाम सताम विहिंसनम अब क्या करें अब अगर उसको मार दें ऐसे ही बाहरी से मार दें तो तमाम बच्चे मर जाएंगे तो ऐसा उपाय सोचें कि जिससे बच्चा बच्चे तो कोई मरे नहीं और ये मर जाए समस्या आ गई समस्या सामने आ गई अब कैसे क्या उपाय करें क्या सोचें कैसे क्या हो संकल्प विकल्प करने लगे मन में इतने में जरा सा ऐश्वर्य फिर आया लीला शक्ति ने तो सब पहले से ठीक कर ही रखा था लीला शक्ति ने जरा आशी अपनी झांकी दिखाई कि महाराज ये सब तय हो चुका है ना आपका तो बोले ठीक अब मन में आ गया कि निश्चय हो गया बुद्धि में कि बस यही करना अपने घुसो अंदर और घुस करके शरीर को बढ़ाओ ये मर जाए तो बच्चों को बाहर निकाल लेंगे बस तो द्वयम कथम शाजति संविचिंत तज्जात्वा विषपुंडमशी सुदृग हरि कद विचार सर्वज्ञ सुजाना अहि मुख पैठे कृपा निधाना परम पुरुष भक्तन सुखदाता दीन बंधु शरणागत प्राता घुस गए मुंह में जहां मुंह में घुसे अब तो महाराज तमाम देवलोक और महरलोक और तपलोक और स्वर्गलोक हाहाकार मच गया सब ने हाहाकार मच गया कि न मालूम अब क्या होने वाला है अब तो वो चले गए अंदर तो पुराघनुच्छदा देवा भयभाहे कि चुक्रुषु जहिशुरूर चिकंसाद्या करुणपा स्वग बांधवा तत्वा भगवान कृष्ण तव्य सार्वत्सकम चूर्ण गिरीशोरात्मान तरसा बबड़े गले तथोति कायस्य मार्जनो युद्धगीर्ण दृष्टे भ्रमतश्चितस्त पूर्णोतर पूर्णोतरांगे पवनो निर्धो यूधन विनिस्पाट्य विनिर्गतो बहि तेन सर्वेशु बहिर्गतेषु प्राणेशु वत्सान सुहृद परेतान दृष्टिया सोत्थाप्त तदन्वित पुनर्वक्ता मुकुंदो भगवान विनिर्ययऊ पीना ही भोगो तिथ मद्भुतम महद ज्योतिषधामना ज्वलयद दिशो दिश प्रतीक्षे वस्थित मीश निर्गमन विवेश तस्मिन मिषताम देवोकसाम ततो तिष्ठा सुकृतो कृतारहम पुष्पै सुरा अप्सर सस्त नर्तन गीत सुगा वाद्यधरास्तवाद्यक सदस्य विप्रा जय निस्वनैर्ग्रा तदद्भुत स्फूर्त सुवाद्य गीतिका जयादिनैकोत्सव मंगल स्वनाम श्रुवा सुधामयी आगती आगति उतराग दृष्टवा मही सस्य जगाम विस्मयम देवलोक में हाहाकार मच गया अरे श्री कृष्ण चले गए अब तो देवमंडल का विनाश निश्चित हो चुका अरे सफल हो जाते तब तो जीत जाते अब जब असफल हो गए तो अब तो ये कंस और कंस के साथ ही असुर हम लोगों को मारी डालेंगे ये कहेंगे कि इन्हीं लोगों का ये किया हुआ सारा षडयंत्र था तो अब देवताओं की खूब खबर ली जाएगी इधर सारा देवमंडल सारा देव जगत ऋषि जगत मुनि जगत संतुष्ट हो गया और कंस के जो गुप्तचर थे वहां पर आकाशचारी और मनोगति वाले उन्होंने देखा तत्काल पहुंच गए कंस के पास और जाकर के बोले महाराज वो तो गया पेट में है हाँ, बोल गया बोल हाँ गया अब तो तमाम जो कंस का राजमहल था वो आनंद से गूंज उठा जैसे कंसाज्ञा कौन पास भगवान दवा इधर तो देवताओं का आर्तनाद और उधर असुरों के आनंद ध्वनि बड़ा सब लोग नाचने गाने लगे बोले आज उत्सव मनाओ कृष्ण ने कहा कि दरबार लगे तो एक बूढ़ा था मंत्री उसने कहा कि जरा थोड़ी देर ठहर तो जाओ खबर तो आ जाने दो वो अघासुर जब तक लौट आए तब तक उत्सव मत मनाओ लेकिन कौन वहां तो बोले अच्छा मनाओ पीछे विशेष उत्सव होगा थोड़ा सा तो मना हो रही तो उससे मनने लगा अब ये अंतर्यामी भगवान और जिनके सामने जिनके समीप कोई भी काल का व्यवधान नहीं भाई और देश का व्यवधान नहीं यहाँ जो बात हो रही है ये वहां वाले नहीं सुन सकते पर जो यहाँ भी है वहाँ भी है समान तो यहाँ की भी सुनता है वहां की भी सुनता है यहाँ की भी देखता है वहां की भी देखता तो श्री कृष्ण थे तो उसके अंदर पर उनको देवताओं की आर्त पुकार भी सुनाई दी मुनियों का क्रंदन भी सुनाई दिया और असुरों की आनंद ध्वनि भी सुनाई दी सुन लिया भगवान ने अब वो भगवान क्या है अव्यय है भगवान अविनाशी है ना अंदर जा करके कोई उनका विनाश हो जाए ये तो संभव नहीं तो भगवान को अंदर जा करके भी विश्व की ज्वाला जो है वो उन्हें किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं कर सका और बच्चे तो सब मूर्खित मूर्छित हो गए थे मरे से हो रहे थे अंदर जाकर विश्व की ज्वाला से पहले दुख हुआ उनको फिर मृत्युवत हो गए पर इनके जो श्रीअंग हैं उस अग्नि में भी वैसे शीतल शांत अक्षुण्ण बने हुए हैं जरा सा भी कोई खरोच भी नहीं लगी उनको तो अब इनको बदलते कौन देर लगती दृश्य मन में आया और वो काम हुआ भगवान का संकल्प और भगवान के संकल्प की सिद्धि इसमें काल का कोई व्यवधान नहीं होता जहां संकल्प आया वहीं वो काम हो गया तो उसने क्या किया कि अब अंदर ले करके सोचा अब तो वो अंदर आ गया अब तो दोनों होठों को मिलाकर मुंह बंद कर लें और आंख मूंद करके अंदर देखे सब को खत्म कर दें अंदर ही अंदर विषय है ये खूब तो ये तो चाह ही रहे थे कि कैसे ये होठों को बंद करें तब तो अपना अपनी लीला शुरू हो तो इनके मन में आहोर बंद करे बस अब उसमें देर क्या थी वो होठ बंद करने लगा आंख मूंदने लगा प्रयास करने लगा इतने में इन्होंने क्या किया कि बहाया आपने देखो नीचे तो उतरे नहीं गले में थे अभी इतने जोर से इतना बहाया इतना बहाया कि मैंने हजारों हजारों पर्वत साथ मिल गए हूं उसका तो एक पहाड़ की कंदरा का सा ही गला था और हजारों पहाड़ों जैसा इनका शरीर बन गया बहुत बढ़ गए इसलिए इसलिए बढ़े कि ये बढ़ करके इनकी इसका गले ही फट जाए अरे कोई किसी छोटे छेद में कोई बहुत बड़ी मोटी चीज दे के ऊपर से उसको थोकना शुरू करे तो चीज फट जाती है तो ये चक्षुत्या भगवान कृष्ण प्रज्ञ सार्वक्षकम चूरी चिकित्सोरात्मान परसा भद्र गले ये गले में बढ़ गए प्रचंड काय ये हुआ जो उसका गला रुक गया गला रुक गया अब श्वास बंद अंदर ही अंदर सब वायु भरने लगी बाहर निकले कैसे छटपटा आने लगा आंखें बाहर निकल आई श्वास बाहर निकलने का तो मार्ग बंद हो गया निकले कैसे पर श्वास अंदर समाज भी कैसे रहे और महाभाग भगवान अंदर है तो उसके प्राण भी कोई निम्न मार्ग से थोड़े ही जा सकते थे भगवान अंदर हैं तो जो ऋषि मुनियों की गति होती है ब्रह्मांड ये ये फट जाता है यहां से प्राण निकलते हैं तो प्राण वायु को और तो जगह मिले नहीं अघासुर के प्राण बंद छटपटाने लगे तो ब्रह्मरंद्र को भेद करके और प्राण बाहर निकल गए तथोपि काय स्मृद्ध मार्गनो युद्गीन दृष्टेर पूर्णोतरंगी पवनो वृद्धो मूर्धन निष्पात निर्गतो बही अति बपु बही कृपाला असुर श्वास रुचि गोत ही काला भ्रमय प्राण व्याकुल विबुधारी उलटे नयन गिरे भू भारी पवन रहो रुख छिद्रम पावा दशम द्वार छिद बाहर आवा बल विपुल उखाड़ भुज अंग जब बाढ़ खल परिय ही गाढ़ सही सके कि निभार रुक श्वास पर चंड हत तेज उदंड सिर फूट सतखंड सच वह गयो छार सिर के सौ टुकड़े हो गए प्राणों के साथ ही अघासुर की इंद्रिया जो सब बाहर निकली आई तमाम उसकी शक्ति इंद्रिया इंद्रिय शक्ति विलुप्त हो गई गोलक गोलक रह गए अब ये हो गया अब जो अंदर सारे गोवत्स गायों के बछड़े और बालक जो मुर्दे के समान मृतक मतलब प्राय पड़े हुए थे उन पर श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी अमृत श्रावणी दृष्टि बस वो अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि पड़ने की देर थी कि सारे बालकों में और बछड़ों में नया जीवन आ गया सबके प्राण आ गए अब भगवान क्यों रुके वहां पर तो बाहर निकल गए वो सब बच्चों को बाहर निकाल दिया अब क्या हुआ कि ये जब उसका सिर फटा और उसमें से लोगों ने देखा सबने सबने एक बड़ी सुंदर तेजस्वी ज्योति निकली और उसमें इतना बड़ा तेज था और इतना उस, इतनी उसकी प्रभा थी कि वो दसों दिशाओं को उसने प्रभावित कर दिया प्रभा फैल गई और अभी ये अंदर थे ये तो उन सारे बछड़ों को बच्चों को जीवित करके उनको निकाल के फिर निकलेंगे ना और वो तो ब्रह्मरंद्र फटते ही बाहर निकल गए तो वो जो अद्भुत ज्योति थी उस ज्योति से दशों दिशाएं भर गई तो पीना ही भोगो छत मदभूतम महद ज्योति स्वधामना जुड़े दिशो दिशा प्रतीक्ष थे वस्थित निर्गमन विवेश तस्मिन विशदान दिवकसाम